तब हिते ने मृत की ओर प्रहिते ने मोर की बोली बोलकर मधुर स्वर से उसे रिझाने की चेष्टा की उनका यह अभिप्राय जानकर देवराज इंद्र ने उन्हें शाप दिया अरे तुम दोनों वास्तव में मृगी और मोर हो जाओ देवताओं के सौ वर्ष पूरे होने पर फिर यह आ सकोगे युधिष्ठर इंद्र के इस साप से दोनों दुराचारी गंधर्व पक्षों की योनि में आ गए उस समय भी वे बड़े-बड़े सुंदर थे उन्हें देखना सबको प्रिय लगता था वे अपने पूर्व जन्म के वृतांत को स्मरण करके सब तीर्थ में भ्रमण करने लगे एक दिन उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और इस प्रकार कहा पूछा शुभाचार ब्रह्मपुत्र हम दोनों किस कर्म से इस योनि में मुक्ति पा सकेंगे नारद जी ने कहा नर्मदा जी के दक्षिण तट पर मरकंड मुनि का शुभ आश्रम है वह पशु पक्षियों की योनि से मुक्ति देने वाला उत्तम तीर्थ है तुम दोनों वहाँ के नर्मदा जी के जल में गोता लगाओ इससे तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा तदंतर हेती और प्रहेती दोनों उस तीर्थ में स्नान करके पूर्वत दिव्य रूपधारी हो गए फिर विधि पूर्वक स्नान करके उन्होंने सदाशिव सदाशिव देव का ध्यान किया और कुछ काल तक ध्यान में स्थित रहे इसी समय पाताल से सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दो शिवलिंग प्रकट हुए एक का कुकुटेश्वर और दूसरे का मयूरेश्वर नाम हुआ वे दोनों गंधर्व विमान पर बैठकर इंद्रलोक को चले गए उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता स्नान के पश्चात वहाँ तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है जो उभा मृत्यु को प्राप्त होता है फिर इस घोर संसार सागर में लौट कर नहीं आता तत्पश्चात चंद्रमती और नर्मदा के संगम में जो उत्तम तीर्थ है उनकी यात्रा करें वहां चंद्रशेखर सिद्धेश्वर घंटेश्वर तथा महिषेश्वर ये चार सिद्धलिंग हैं तदंतर अश्व तीर्थ वृषसेन तीर्थ है ग्रीव तीर्थ और शुक्र तीर्थ उनसे आगे रमेश्वर तीर्थ यात्रा करें जो सब पापों का नाश करने वाला है राजन नर्मदा के तट पर रामेश्वर तीर्थ महापातकों का भी नाश कर देता है वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य फिर संसार जन्म नहीं लेता पितरों के लिए वहाँ विधि पूर्वक तिलोदक और पिंडदान देना चाहिए इससे पितरों की परम गति होती है इससे आगे उत्तम हरिणा तीर्थ है वहाँ सिद्धलिंग हरिणेश्वर धनुरेश्वर बाणेश्वर तथा लुब्धकेश्वर इन सब की पूजा करके मनुष्य शिवलोक में जाता है भानुमति का तीर्थ सेवन शूलभेद तीर्थ में शबर दंपति का उद्धार एवं और सती भानुमति को कैलाश धाम की प्राप्ति मारकंड जी कहते हैं युधिष्ठर भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र आठ मानस मंत्रों द्वारा आठ फूल निवेदन करें उन फूलों के नाम इस प्रकार हैं वारिज सौम्य आगन्य वाव्य पार्थिव वनस्पते प्रजापते और शिव पुष्प इसके उसके स्वरूप का निर्णय सुनो जन को ही वारिज समझना चाहिए मधुयुक्त दूध सोम में कहलाता है धूप और दीप आगन्य पुष्प के अंतर्गत है चंदन आदि वाव्य पुष्प हैं कंद मूल आदि पार्थिव पुष्प और फल वनस्पत्य पुष्प हैं अन्न आदि भोज्य पदार्थ प्रजापात्य पुष्प कहलाते हैं तथा उपासना का ही नाम शिव पुष्प है इनके सिवा अहिंसा प्रथम पुष्प है इंद्रिय नीर है द्वितीय पुष्प और दया द्वितीय पुष्प है इन आध्यात्मिक पुष्पों से सब देवता संतुष्ट होते हैं राजन इस हरिणा तीर्थ में तपस्या और भक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए जो ब्राह्मण रुद्र पुत्र सुक्त पुरुष सुक्त और अपनी अपनी शाखा के अनुसार अनुसार ग्रह सूत्र इत्यादि मंत्र ज्योति ब्रह्मांड गायत्री मंत्र मधु ब्रह्मांड मंडल ब्रह्मांड तथा देवव्रत नाम से प्रसिद्ध देवयुक्त देवसुक्त आदि अर्जुन वेदोक्तर सूत्रों का अभिभक्त भक्ति पूर्वक जाप करते हैं वे भगवान शिव के लोक में जाते हैं इसके पश्चात पूर्व काल में वीरसेन नाम से विख्यात एक महापराक्रमी राजा हो गए वे चंद देश के स्वामी बड़े-बड़े मंडलाधीश्वर भी थे उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था किसी को रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं होता था उस राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था सदा सर्वत्र धर्म का ही पालन किया जाता था राजा अपने पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहते थे उनके एक पुत्री थी जो गिरिराज गिरिराजनंदिनी गिरिजानंदिनी उमा की भांति सुंदर थी उस पर माता-पिता भाई बंधु सभी की स्नेह दृष्टि बने रहती थी समय आने पर 12वें वर्ष में चेदी राजन ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह कर संपन्न कार्य किया विवाह के बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया बेटी को विधवा भी देख राजा शोक में डूब गए उन्होंने दुख से पीड़ित होकर रानी से कहा कल्याणी यह तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुख सह दुख आ पड़ा है मेरी पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है भानुमति के शील की रक्षा अब कोई उपाय दिखाइए कोई उपाय दिखाई नहीं देता माता पिता जब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनकी बात सुनकर राजकुमारी भानुमति उनके समीप जाकर बोली पिताजी मैं शोक अग्नि से जल रही हूँ इसलिए आज आपके सामने संकोच छोड़कर बोलती हूँ मेरे कारण कोई दोष की बात नहीं है होने पाएगी यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ आज से मैं अभी श्रृंगार नहीं धारण करूंगी मोटे वस्त्रों से अपना शरीर ढक लूंगी संयम पूर्वक रहकर पुराणों तक सभी व्रतों का आचरण करूंगी और श्री हरि के संतोष के लिए तपस्या करती हुई अपनी काया को सुखा डालूंगी तात यदि आपकी सम्मति हो तो मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ भानुमति का यह वचन सुनकर राजा वीर संगत स्नेह से कातर हो गए और उन्होंने कन्या की तीर्थयात्रा के लिए उद्देश्य दिया तथा बहुत अधिक देर तक धन देकर उसे विदा किया कुछ विश्वास पात्र वृद्ध पुरुषों को पुत्री की रक्षा में नियुक्त किया और एक हथियारबंद सिपाही तथा पुरोहित ब्राह्मण को भी साथ में लगा दिया भानुमती गंगा के तट पर गई और वहां स्नान करके भगवान के ध्यान में तत्पर हुई स्नान ध्यान और पूजन यह उसका प्रतिदिन का नियम हो गया उसकी रक्षा करने में समर्थ जो दास दासी आदि थे वे भी उसके पिता राजा वीरसेन की आज्ञा से वहां गंगा के किनारे टिके रहे इस समय इस प्रकार वह राजकुमारी 12 वर्षों तक गंगा जी के तट पर रही तदंतर किसी समय गंगा को छोड़कर अपने सहायक मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में गई जहां महानदी नर्मदा बहती थी वहां अमरकंटक पर्वत एवं ओमकार तीर्थ में वह छह महीने तक रही फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में होती हुई अनेक तीर्थ में भ्रमण करने लगी प्रत्येक तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से पूजन करती हुई वह निवास करती थी तत्पश्चात वह पश्चिम दिशा में देव नदी और नर्मदा के संगम पर गई वहां ऋषियों के समुदाय से सेवित एक पुण्य आश्रम दिखाई दिया ऋषि वंदन का दर्शन करके भानुमति ने सबको प्रणाम किया और पूछा महात्माओं इस तीर्थ का नाम और महात्म्य क्या है यह बताने की कृपा करें तब एक ऋषि ने कहा तपस्विनी यह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात है पूर्व काल में त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने संतुष्ट होकर यहाँ श्रीहरि चक्र प्रदान किया था जो इस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसे पुनरावृत्ति उत्तम गति प्राप्त होती है दूसरे दिन यहाँ से सूर्यभेद तीर्थ में जाना चाहिए वहाँ रात्रि में जागरण करके पुराण की कथा पढ़ें और सुने पुष्प धूप दीप आदि निवेदन करके भगवान विष्णु की पूजा करें तीसरे दिन प्रातः काल होने पर ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भक्ति पूर्वक दान दें फिर चौथे दिन जहां प्राची सरस्वती है वहां जाना चाहिए वे सरस्वती संपूर्ण जगत को पावन करने के लिए साक्षात ब्रह्म जी से प्रकट हुई है पांचवें दिन मार्कंडेश्वर लिंग के समीप जाएं और वहां स्नान करें वह परम उत्तम स्थान सर्वदेवमय और सर्व तीर्थमय है जो पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर वहां एक वर्ष या छह मास या पंद्रह दिन अथवा तीन रात्रि भी निवास करता उसका फिर मृत लोक में निवास नहीं होता वह सदा स्वर्ग लोक में अक्षय निवास पाता है जो नियम पूर्वक वहाँ निवास करता वह तीन जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है तथा जो विधवा नारी उत्तम व्रत का पालन करती हुई बारह वर्षों तक वहाँ निवास करती वह अनंत काल तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होती है